कहा कि भाई यदि होता तो निवृत्त हो है ही नहीं तो निवृत्त क्या करो तो है ही नहीं कुछ भी जगत है ही नहीं प्रपंच है ही नहीं ये गुरु चेला क्या है शास्त्र शास्त्र भाव क्या है ये है ये भी नहीं है कभी ये भी विकल्प वास्तव में नहीं है विकल्पो भी निवर्तता यदि केनचित कल्पित यदि किसी के द्वारा कल्पना की गई होगी तो निश्चित से इस विकल्प को भी हम निवृत्त कर सकते थे विकल्प की यदि किसी ने कल्पना की होती तो उस विकल्प को उससे हम कहते भाई तू क्यों कल्पना कर रहा है तो चुप हो जा सब कल्पना वो मौन करा दो उसको रोक दो उसकी कल्पना को है ना जैसे आप लोग क्या करते हैं यहाँ भी ऐसे होता है सरकार कोई कल्पना किया कि हम कानून बनाएंगे क्या करेंगे आप चारों संबंध घोषणा कर देते हैं घेराव कर देंगे पथराव करेंगे तोड़ फोड़ कर देंगे हंगामा मचा देंगे घेराव कर देंगे मंत्रियों की आ जाएंगे विधानसभा घेराव नहीं संसद का घेराव कर देंगे कानून को होने नहीं देंगे अरे कल्पना क्यों कर रहे हो ऐसे उल्टा कल्पना बंद करो और हाँ, कल्पना बंद कर देते हैं करा देते हैं तो उनको भी मानना पड़ता है और उनकी अपनी कल्पना को वो छोड़ देते हैं उसी प्रकार यदि भी किसी के द्वारा कल्पना किया गया होता है विकल्प को हम उसको पकड़ लेते तो क्यों किया भाई फालतू की कल्पना तो सबको दुखी दुखी कल्पना की हो गया सबको सुखी कल्पना करता कल्पना ही करना था तुमको तुमने दुखी क्यों कल्पना किया सबको पकड़ दे उसको है ना ऐसा कोई कल्पना किया ही नहीं आते इस विकल्प को निवृत्त करने की जरूरत भी नहीं तो सारा उपदेश उपदेशादय वाद ये गुरु शिष्य आदि जो वाद है ना ये केवल उपदेश के लिए जब तक परमार्थ अनुभूति नहीं हुई क्योंकि यहाँ जो चर्चा चलो अधिकारी ये ध्यान रखना है कि अभी तक जितना भी आपने सुना है मध्यम और उत्तम अधिकारी का मामला है जिसके लिए अजातवाद कहा जा रहा है जगत है ही नहीं अधिकारी के लिए अभिधान अभिधे अभेदवाद कथन किया और अब अधिकारी के लिए जगत तो है ही नहीं ना अभिधान ना अभिधे कुछ भी नहीं उसका अभेद क्या करो हो तब ना अभेद करे उसको ये सर्वोत्तम अधिकारी का बात चल रहा है उपदेशालय वाद ये जो वाद है गुरु शिष्य शास्त्र शास्त्र इत्यादि वाद वह केवल उपदेशादेव उपदेश के लिए ही है क्योंकि ज्ञाते सती आत्मा की अनुभूति हो जाने पर द्वैतम न दे द्वैत विद्यमान ही नहीं देगा शास्त्र शास्त्र शिष्य विकल्प कथम निवर्तते प्रकारांतर द्वैत की अनुपति की आशंका कर रहा है पूर्व पक्षी कहता है यदि आप मान लेते हो कि द्वैत है ही नहीं माया मात्र है अद्वैत ही परमार्थ है फिर तो शास्त्र शास्त्र और शिष्य ये जो विकल्प है ये कैसे निवृत्त होएगा ये बताओ ये तो रहेगा ना इसी से तुमने तो जाना अद्वैत को इस जिससे मैं अद्वैत को जान रहा हूँ ये गुरु शिष्य शास्त्र भाव इसको कौन तोड़ सकता है इसको तो आप निवृत्त नहीं कर सकते आ मरण पर्यंत ही कहेंगे मेरे गुरु जी है मैं उनका शिष्य हूँ बोला पड़ेगा उसको कहा जाएगा बोला तो पड़ेगा ना चाहे ब्रह्म ज्ञानी हो जाएगा ये तो नहीं गया मेरा कोई गुरु नहीं था है? कोई पूछेगा तो बोलेगा ही फिर तो रहोगे ना शास्त्र शास्त्र शिष्य भाव तो रह गुरु शिष्य शास्त्र बोलना भी मुश्किल हो जाता हो जाए अद्वैत रिश्ता हो जाए फिर आप बोल नहीं सकते हम मेरे गुरु है कैसे बोलो ये न गुरु था न गुरु है न होगा सवाल ही नहीं अजातवाद में ही समस्या हो जाती है विष्णु देवान गिरिजी महाराज की जन्म शताब्दी मनाया गया तो बड़े महाराज जी का भी शताब्दी उत्सव मनाया गया जन्म शताब्दी उत्सव तो उस समय छोटे महाराज जी भी थे 1985 की बात है उसी समय तो मिला था वो जब टिप्पण के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार और उसी वर्ष मिला था और बड़ी जोर दिया गया कि भाई छोटे महाराज जी से कि आप अब की बार देंगे पांच मिनट तो बोलना ही पड़ेगा क्योंकि आपके गुरु जी की जन्म शताब्दी मना रहे तो बहुत पीछे पड़े उन्होंने मना किया भाई हमसे हम नहीं बोलते अब अंत में माइक रख ही दिया सामने छोड़े ही नहीं हम मंडलेश्वर जी भी कहे नहीं आज तो आपको बोलना ही पड़े भक्के बाकी प्रसंग आप आते हैं स्टेज पे बैठ जाते हैं शोभा बढ़ता है सब लोग चाहते हैं आप यहाँ बैठे दर्शन हो आ जाते हैं बोलते कुछ नहीं हम कभी नहीं कहा आपसे लेकिन आज का विशेष प्रसंग है तो आपको बोलना ही पड़ेगा और क्या बोले और गुरु हो तब ना कोई शिशु कौन है, है? कौन शिशु बोलेगा कैसे बोलेगा बड़ा मुश्किल काम है तो उन्होंने क्या किया कहती यदि मानते ही हो इस उपाधि को शिष्य और एक उपाधि को गुरु बन के थे इन उपाधि दृष्टिया आई गुरु शिष्य भाव को लेकर कहते हो तो सुन लो उस उत्कृष्ट उपाधि का वर्णन कोई नहीं कर मैं क्या करूँ असिध गिरी समम से जलम सिंधु पात्र श्लोक बोल दिया ओम नमः शिवाय कर दिया चल ठीक वर्णन ही नहीं कर सकते यादृश उपाधि में वह ब्रह्म तत्व स्वरूप का अनुभूति हुआ और यार इसमें तो उपाधि ने इस उपाधि के अंदर अनुभूति कराया है उसका क्या वर्णन कर सकते हैं तो असिध गिरी मौसम से आज श्लोक बोल दिया और कहा दिए कि उसका तो वर्णन हो नहीं सकता है आप लोग कर सकते हो करो अरे आप लोग कर सकते हैं कीजिए ना हम सुन रहे हैं हम तो श्रोता ही रहे ऐसे करो पूर्ण मदा कर दिया सब लोग देखते रह गए ये सोच रहे थे उनके गुणगान करेंगे कुछ ये वो बोलेंगे वो ऐसे थे वो वैसे थे ये किया वो किया हमको ऐसे पढ़ाए कुछ तो बोलेंगे कुछ नहीं बोला कभी भी उपाधि दृष्टिया व्याख्यान है कि उपाधि की भी महिमा नहीं ला सकते आप और निरुपाधि गुरु है वो तो ब्रह्म है वही गुरु है निरुपाधिक है वही स्वरूप है उसका क्या वर्णन करूंगा जो वर्णन करने योग्य होता है वो सौपाधिक वस्तु होता है निरुपाधिक तो है नहीं और वास्तव में गुरु तत्व तो जो सौपाधिक है उसको तो हम उसका भी वर्णन नहीं कर सकते वो तो सरस्वती हार गई तो हम क्या करें जब सरस्वती माई आजीवन बैठ कर लिखते रहेगी गुरु महिमा वो पूरी नहीं कर सकती तो मैं क्या करूंगा दो चार पांच मिनट के अंदर हो उनका ये भाव था कहा नहीं कुछ तो ये विशेषता होता है इसलिए कहते यहाँ पर भी देखी है ये जो भेद व्यवहार आपने किया हुआ है तो जिस जो है वास्तविकता को छोड़ करके प्रश्न शंका पूर्व पक्ष यही कहता है तो मान रहा है कि मोक्ष काल में भी पुरुष शास्त्र भाव होना चाहिए तो क्यों नहीं मानोगे उसको कैसे निवृत्त कर दोगे आप अरे जिसने हमको ब्रह्म ज्ञान दिया उसको कहोगे नहीं है मिथ्या है ये कैसे करेंगे मई सत्य अरे मई सत्य वहां शिष्य सत्य नहीं है मई सत्य बोलते हुए वो आत्मा सत्य और पाई दृष्टिया यदि शिष्य सत्य है फिर तो गुरु भी सत्य है निरुपाय दृष्टिया विचार करोगे ना शिष्य सत्य है ना गुरु सत्य इसलिए कहते हैं कथम निवर्तता इत्युच्चते पूर्व पक्षी ने शंका किया ये कैसे निवृत्त हो जो बाकी सब निवृत्त हम मान भी लेंगे इसको तुम निवृत्त नहीं मान सकते गुरु भक्त बेचारा है ना विकल्प हो विवर्तित विकल्प तब जवाब देते है देखो ये गुरु शिष्य शास्त्र जो विकल्प है यह भी निवृत्त हो जाता यदि किसी के द्वारा कल्पना किया गया होता तो यथा अयम प्रपंचो माया रज्जु सर्वत तथा अयम शिष्याद भेद विकल्पो भी प्राग प्रतिबोधाद एव उपदेश निमित्त अत उपदेशाद अयम वाद शिष्य शास्त्र शास्त्र जिस प्रकार से प्रपंच माया में रज सर्प के समान यदा अयम प्रपंचो माया रज सर्पवत तथा अयम शिष्या भेद विकल्पोपी इसी प्रकार से गुरु शास्त्र जो भेद विकल्प आप मान रहे हो वह भी क्या है प्राग प्रतिबोधादेव ज्ञानानुभूति होने से पूर्व काल तक के लिए ही वो भी उपदेश निमित्त हो वो भी उपदेश रूपी निमित्त को लेकर के व्यवहार कर रहे हैं हम प्राक आत्मानुभूति से पूर्व यह वाद शिष्य शास्त्र शास्त्र इस प्रकार का स्वीकार किया जाता है उपदेश कार्य तो जो उपदेश का कार्य किया ज्ञान वह सिद्ध हो गया निर्वृत्त निवृत्त नहीं निर्वृत्त जो उपदेश का कार्यभूत ज्ञानानुभूति सिद्ध हो गया तो परमार्थ तत्व ज्ञाते ज्ञाते परमार्थ तत्व द्वैतम न विद्यते द्वैत अपने आप समाप्त है तो वहाँ उपदेश भी नहीं उपदेष्टा भी नहीं और उपदेश भी नहीं कोई भी नहीं कुछ भी नहीं इस प्रकार से कार्य का संख्या अठारह पूरी हो गई अब पुनः मंत्र में आते हैं उपनिषद में अब मध्यम अधिकारी भी हो गया उत्तम अधिकारी भी हो गया अब अधमाधिकारी को तो कुछ मसाला देना पड़ेगा वो कैसे समझे वो कहेगा महाराज ये तो हो ही नहीं सकता वो तो कहता प्रपंच तो पैदा हुआ है और मानेगा ही नहीं प्रपंच पैदा ही नहीं हुआ कोई कल्पक ही नहीं है कल्पना ही नहीं तो कहा से निवृत्त होगा कल्पका भाव कल्पना ही नास्ते तो विकल्प नास्ती ये उत्तम अधिकारी मान नहीं सकता और क्या महाराज मैं स्वयं कल्पना कर रहा है दुनिया भर की आप कैसे करे तो कल्पक नहीं है जब मैं शुद्ध वस्तुओं की कल्पना कर लेता हूँ और अपने कल्पना यदि मैं अपने स्व सामर्थ्य अनुरूप कर लेता हूँ तो उसको साकार बना के दिखा देता हूँ या नहीं यदि आपके जेब में सौ रुपया है और आपने कल्पना किया कि सौ रुपये से मैं पकौड़ी बनाऊंगा आप वो पकौड़ी बना के दिखा देंगे क्यों हटे ना आपका मन में आ गया संकल्प आपने कल्पना कर लिया जाओगे तेल कढ़ाए बढ़ाई जहाँ तहाँ से जुड़ जाओगे और बना ही दो तो कहते जब मैं एक क्षुद्र जीव किंचित कल्पना करता हूँ स्व स्वसामर्थ्यानुसारेण और उसको सुकून साकार करके सिद्ध कर दिखा देता हूँ और वह जो परो व्यापक परमात्मा ईश्वर नाम का वस्तु जरूर है और उसके सामर्थ्य भी महान है तभी तो उसने इतना विशाल सृष्टि बनाया जैसे वह छोटी सी पकोड़ी सृष्टि बनाया तो वो तो विशाल सृष्टि बनाने वाला कोई कल्पक जरूर है कैसा आप कहते हो ये न किन यदि कल्पित अरे कैसा होगा किया है कल्पना है जगत माना इसको अच्छा, ऐसा जड़ बुद्धि वाले को क्या करें और अभिषेक प्रधान सब पूर्ण व्यवहार से काम चलाना चाहता है सारा व्यवहार वाहक व्यवहार से चलता है कई बार लगता है अच्छा हुआ था कि फोन नहीं होता तो अच्छा ही था अब लोग सब के फोन से गुरु महाराज जय जय महाराज हनुमान महाराज वहीं से हो गया कोई ना आवे ना जावे ना पूछे न ताजे न कुछ नहीं कोई मिलना नहीं जुलना नहीं दुख सुख में सब फोन से दुख सुख भी पूछ लिया हो गया काम तब है फोन से सेवा हो गई <laughs> माता पिता मर रहे हैं बच्चा मेरी घर फोन करता है कैसे ठीक है हाँ, दवा खा ले या हाँ खा लिया ठीक है खा लो ठीक है काम करता हूँ न खिलाएगा कौन वहाँ कोई नहीं बर्बाद कर दिए ना सब व्यवहार व्यवहार पर टिका हुआ है मैंने अभिधेय प्रधान हो गया साथ साथ मैंने बात वही है ना अभिधेय प्रधान हो जाना और अभिधेय प्रधान के अभिधान का आवश्यकता हो गया अभिधेय के साथ व्यवहार करने के लिए अभिधान के बिना काम चलेगा नहीं इसलिए अभिधान अभिधेय प्रधान मतलब जगत को स्वीकार कर पहले अभिधान को प्रदान किया ओंकार की मैं व्याख्यान करूंगा कहा था ना ओम क्या है अभिधान था किसका ब्रह्म रूपी अभिधेय का मैंने अभिधान प्रदान करके उस अभिधान को अभिधेय के साथ अधिन करता हुआ साबित कर दिया गया था अद्वैत सिद्धि और अब अभिधेय को प्रदान करो क्योंकि मान डालना जगत सत्य है अब क्या करें ऐसे आदमी को समझाने के लिए वही से शुरू करो जगत से शुरू करना पड़ेगा आपको काम जिसको सत्य मान रहा है वहीं से आपको उसको समझाना शुरू करना पड़ेगा आपने घट को सत्य माना तो किस आधार पर सत्य मान रहे हो कहा तक इसकी सत्यता टिकती है चाहे नित्य सत्यता इसके अंदर है पारमार्थिक सत्यता या नहीं है ये सब उसको धीरे धीरे प्रश्न डाल करके समझा के समझा के ले चलना पड़ेगा ना तभी तो आप ऊपर उठ के अभिधान में आएगा फिर अभिधानों में विचार करना पड़ेगा उसको घटा है या नहीं पटा इसमें भी ट उसमें भी ट है घ पद विचार हुआ त मात्र सत्य इसका मतलब घ प सत्य है समझाना पड़ेगा ना भाई और क्या करें वो अभिधान में भी उसको विचार दिखाना पड़ेगा ये तो फिर ट का भी विचार दिखाना पड़ेगा फिर कहा इसका मतलब न घ सत्य न प सत्य न ट सत्य सभी विचारी तो अभिधान भी विचारी हो गया अतः न अभिधेय सत्य रहा न अभिधान सत्य रहा फिर सिद्ध क्या रहा अरे तू तो सत्य है जो बोल रहा है ये मान ले हाँ मैं तो हूँ भले अभिधान झूठा अभिधि झूठा लेकिन मैं सत्य हूँ तो कौन है फिर ऐसे करके धीरे धीरे धीरे धीरे अभिधि प्रधानता से अद्वैत बने जाना है मंदाधिकारी को भाष्यकार कहते हैं अभिधेय प्रधान ओंकार चतुष्पाद आत्मदि व्याख्या यह हो अभिधेय प्राधान की जो ओंकार है वही अभिधेय प्रधानतया चतुष्पाद आत्मा है ऐसे कह दिया जो ओंकार था वही अभिधेय रूपेण चार भाग वक्त हुआ चार पद वाला आत्मा हो गया और वही पादों का कहेंगे जो पाद वही मात्रा है जो मात्रा है वही पाद आवेद कर देंगे तो टीका में तत्व ज्ञान समर्था नाम मध्यमान नाम अधिकारी नाम अध्यारोपवादाभ्याम पार मार्ग तत्वोपदिष्ठा स्पष्ट है ना कि तत्व ज्ञान में जो समर्थ है ऐसे जो लोग मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी है जो उन लोगों के अध्यारोप प्रक्रिया से हमने पारावार तत्व को उपदेश कर दिया लेकिन आप इधारिन तत्व ग्रहण असमर्थान सीधे तत्व ग्रहण करने में समर्थ नहीं सब विदेशी है मृक्ष है तो क्या करे इनको है? उनके लिए अधमाधिकारी नाम वो सब क्या है वो अधमाधिकारी है उनके लिए कहते हैं कि भाई क्या करना पड़ेगा आत्म ध्यान विधान आया आत्म ध्यान का विधान करना पड़ेगा वो भी कैसे आरोप दृष्टि में अवष्टभ्य आरोप दृष्टि को ही तब भी ग्रहण करना पड़ेगा उसके बिना ध्यान भी नहीं हो सकता आत्मा आरोप करना पड़ेगा उसमें तब उसको आरोपित वस्तु से विशिष्ट करके आत्मा का ध्यान करना पड़ेगा और विशिष्ट का ध्यान करते करते स्थिति ऐसे आएगा अपने विशेष विशेष रह जाए सारा विशेषण तुमने जो डाला हुआ अपने आप को पड़ जाओ है ना हर विशिष्ट आप ले आते हो क्या बिस्कुट पैकेट लाते नहीं लाते हो पैकेट क्या है कदा बिस्कुट पैकेट है फिर क्या बचा अंत में पाकट पाकट बच गया बिस्कुट को तो सोहा एक एक विशेषण जो था सब खाते गए खाते गए घर बारह तेरह बीस जितना विशेषण था हाँ, सब खा गए तो बचा गया पैकेट तो, तो बच गया और ऐसे ही यहाँ पर अंत विशेष ही बचेगा सारा विशेषण अपने आप खत्म हो जा रहा है विशेषण तो जाएंगे एक भी नहीं बचने वाला अविशेष मात्र बचेगा इसलिए आरोप दृष्टि में अवस्टभ्य आरोप दृष्टि को यह अवस्तब्ध करके व्याचे विधेय प्रधान ओंकार व्याख्या तो यह स्वयं आत्मा जो वह यह जो आत्मा है उसी को उपनिषद मंत्र कह रहा है देखिए मंत्र को स्वयं आत्मा अक्षर ओंगारो अधिमात्रम पादा मात्रा पादा अकारो कारो मकार इति कहने के लिए वह यह जो आत्मा पूर्व में अविधेय को प्रदान करते अभिधान के द्वारा अविधेय के साथ अभेद करके जो कथन किया हुआ था उसी को वह यह जो आत्मा जो चुष्पद आत्मा था वह क्या है वो अध्यक्षरम वो अक्षर के अनुरोध के आधार पर आपने कर दिया था वो ओंगार स्वरूप ही है वो क्या है अध्यक्षरम अक्षरम अधिकृत्य प्रोक्तम ओंकार जो आत्मा था अभिजय उसी को आपने ओंकार कह करके व्याख्यान कर दिया था और वही जो अध्यक्ष है अधिमात्र भी है वो अधिमात्र भी है वो मात्रा को अधिकृत करके मैंने मात्रा का आरोपण करके दृष्टि करोगे तो उस का नाम अधिमात्र पादों का अक्षर के त्रक्षरों को तीन पाद के रूप में पादों का आरोप करते हुए अक्षर की मात्राओं का आरोप गया तद ये मात्र पड़ा अक्षर और पादों का आरोप कर दिया उसका नाम अध्यक्षर पड़ गया तो अधिमात्र क्यों है क्योंकि जो पूर्व में कथित पाद है वही मात्रा है और जो माता है वही पाद कौन है वो कथे अकार उकार मकार अकार उकार और मकार तुरी अरे तुरी का को कोई शब्द ही नहीं तुरी के लिए कोई मात्रा नहीं ये जो तुरी में क्या है तो ये पाद जो हमने कहा था चतुर्थ पाद या चतुर्थ मात्रा नहीं कह रहे हैं वहां भी चतुर्थत्व तुरय इत्यादि को क्या करना कहा था सापेक्ष कथन है नहीं तो वास्तव से तुरयत्व भी नहीं चतुर्थ तो कुछ भी नहीं घटेगा अगर तीन ही गिनाया मात्रा अकार उकार मकार चतुर्थ ही थी ऐसे कुछ नहीं बोला तीन के अलावा कोई चौथा गहरा नहीं है यहाँ भाष्यकार स्वयं आत्मा अध्यक्षरम अक्षरम अधिकृत्य अभिधान प्राधान्य न वर्ण्यमानो यदि अध्यक्षरम अर्थ क्या है अध्यक्षर ने अक्षर को विकृत कर करके अभिधान प्रधान करते हुए वर्णन करने का नाम अध्यक्ष पहले पाद प्रधान किया अब अक्षर प्रधान पहले था प्रथम पाद क्या है विश्व है दूसरा पाद क्या है पादों के महात्म बढ़ाया ओम को लिया शुरू में पादों के महात्म बढ़ा करके उस ओम के ही ओम को अभिन कर जाना किसे ब्रह्म से यही तो कहा स्वयं आत्मा ये तो कहा था पहले अयम आत्मा ब्रह्म वही आत्मा क्या है चतुष्पाद का ओम को अभिन किया आत्मा रूपया विजयी से और अब एक प्रधान प्रधान पर व्याख्या कर दिया पाद दृष्टिया और ऐसे कथित उसी आत्मा को अक्षर प्रधान खत्म कर अक्षर को अधिकृत करके आत्मा का वर्णन करूंगा तो अब क्या हो जाएगा इसलिए अभिधान प्रधान हो जाएगा क्योंकि उसको पहुंचाना है अभिधेय से अभिधान में उसके बिना तो काम पकड़ेगा नहीं वो पहले वाला तो महान था उत्तम अधिकारी है उसको सीधे ही अभिधान का अभिधेय के साथ कर दे और अभिधेय को मिथ्या कर दिया खत्म हो गया मामला और ये तो अभिधेय सत्यमान बैठने वाला आदमी है इसको कैसे अभिधेय मिथ्या कह दोगे सीधे ही इसलिए इसको कहना पड़ता है ये जो अभिधेय होता है जगत विशिष्ट आत्मा ये ही ओम है और ओम तीन मात्रा वाला है जैसे वहाँ भी आपका का तीन पाद है विजय का भी तीन पाद है वैसे यहाँ पर अक्षर भी तीन है समान हुआ कि नहीं हुआ प्रथम को प्रथम के साथ प्रथम भाई नियम कारण से अनधिक्रमात यथा संख्या मनुष्य समाराम क्या कर इनके अनुसार विचार करके देखोगे अकार को प्रथम पाल के साथ उकार को द्वितीय पाल के साथ मकार को तृतीय पाल के साथ अब उसकी अकल में समझ में आते अच्छा ऐसा है जगत और हाँ ऐसा ही जगत है यू समझो इसको इस तरह से तारात्म करके उसको समझाना पड़ता है इसलिए ऐसे करने के लिए पहले हमें अभिधान को प्रधानता पूर्वक वर्णन करना पड़ेगा फिर कहेंगे वो अहोमा मिथ्या उसको अभिधेय को मिथ्या सिद्ध किया केवल अभिधान को मिथ्या कर देंगे तब तो आत्मा ही बचाए तीसरे कहते हैं अधिकृत्य अक्षरम अधिकृत्य अर्थात अभिधान प्राधान्य वर्ण्यमानो यदि अध्यक्षरम जो वर्णन करने योग्य उसका नाम अध्यक्षर है कौन है वो वह यह है जो आत्मा किम पर अक्षर वो अक्षर कौन है जिसको अधिकृत करके आप आत्मा की व्याख्या करने जा रहे हो अरे ओंकार स्वयं ओंकार पादश प्रयोज्यमान अधिमात्र वह यह जो ओंकार पादश जो पहले विभक्त हो चुका है उसी को ही प्रवीज मारो अधिमात्र भवती वही अधिमात्र भी कहा जाए जो अध्यक्षर है वही अधिमात्र क्यों क्योंकि मात्राम अधिकृत वर्तते मात्र मात्राम अधिकृत्य वर्तते अधिमात्र क्या मात्रा का वैसे पूर्व थी चुष्पा परण के लिए पहले तीन में मीयते आने नहीं दी मात्रा मीयते असो इति मात्रा दोनों पड़ेगा कथम आत्मनो ये पाद अंदर से मात्रा कथम पूछा तो जवाब दे रहे अरे भाई सीधी सी बात है आत्मा के जो पाद वर्णन हुए हैं वे ही मात्राएं हैं वही क्या है ओंकार की मात्राएं हैं कथम अलग है प्रश्न पूर्व पक्षी पूछ रहा है ये कैसा हो सकता है जो अधिमात्र है वही अध्यक्ष है जो अध्यक्ष है वही अधिपाद है ये कैसे निर्णय हुआ अधिपाद को अध्यक्ष कर दिया अगर अध्यक्ष को अधिमात्र कर डाला आपने ये कैसे हो सकता है तब कहते हैं जवाब में आत्मनो ये पाद आत्मा के जो पाद कहे गए हैं एव ओंकार से मात्रा उनको ही ओंकार की मात्रा समझिए और यह थोड़ा भाष्य अधूरी है उसको पूरी कर लेनी पड़ेगी टिप्पण एक में देखिए क्योंकि वहां ना पादा मात्रा उसकी तो व्याख्या हो गया मूल भाष्य में क्या है पादा मात्रा की व्याख्या है ना आत्मो ये पादा तंगार से मात्रा न पादा मात्रा ये व्याख्या हो गया फिर आगे मात्रा च पादा इसकी व्याख्या नहीं है भाष्य में लगता है एक पंक्ति कहीं स्खलित हो गया है प्रमाद वशात गड़बड़ा गया उसका टिप्पण पूरा कर दिखा रहे ओंकार से मतलब अनंतरम उसके अंतर लिखना पड़ेगा याश्च ओंकार से मात्रा ता आत्मन पादा इति जो ओंकार का मात्राएं हैं वे क्या है आत्मा के पाद है जो आत्मा के पाद है वे ओंकार के अक्षर हैं और जो मात्राएं हैं और जो ओंकार की मात्राएं हैं वे ही आत्मा के पाद है ये अधूरा हो रहा था नहीं तो भाषणीय में होता है ना कि मंत्र का प्रत्येक पद की व्याख्या होनी चाहिए और कैसे छोड़ देंगे दो शब्द छोड़ दिया फिर तो मात्रा मात्रा शपादा फिर भाष्य की जो है लक्षण घटेगा नहीं भाष्य उसे कहते हैं जो मूल मंत्र तो शब्दों की व्याख्या करें और अपनी व्याख्या करते हुए कहे हुए वचनों को भी व्याख्या करें सूत्र पर कोई बात कर लिया और उसकी व्याख्या किया उसी का नाम भाष्य इसलिए कहते हैं कि देखो ये बात यहाँ जोड़ लेना मूल में मूल अनुरोधात अपेक्षितम दृष्टव्यम टिप्पण का स्पष्ट करते हैं मूल मंत्र के अनुसार जो है यह भाष्य अपेक्षित है ऐसा समझो काता मात्रा रेवे मात्रा कौन है भाष्यकार कह रहे हैं काता अकारो कारो मकार अकारो कार और मकार है पाद और मात्राओं के बीच में सामान्यता बिठाना पड़ेगा जो पाद है वही मात्रा जो मात्रा है वही पाद है ऐसे कहने को सादृश्यता लाओ दोनों में क्या समानता है आकार को आत्मा के प्रथम पाद के साथ अभेद करना चाह रहे हैं आप कैसे करोगे क्या सादृश्यता है इसमें बताइए तो पादों में आदि है या नहीं आदि होने से आ और ये मात्राओं में पहला प्रथम ये भी है पादों का प्रथम है वो और अक्षरों का ये भी प्रथम आदित्य के वजह से आ अक्षर हो गया अ कह दिया आदित्य आदि हेतु देंगे आदि मतवा और आपनोति हवा और सब व्याप्त भी कर ले रहा है सारा संसार को आत्मा के प्रथम पात्र रूपा विराट से आप व्याप्त कर लेते जैसे ये जो पिंड रूपी ब्रह्मांड में अब क्या कर रहे विश्व रूप जैसा धारण कर लेते हो मैं आज अगर जागृत में विश्व कौन है जागृत अभिमानी विश्व हो वो विश्व विराट नहीं लेना विश्व का नहीं आ जाओ विश्व तेजस तक जब मैं अगर यह विश्व में आते हो जागृत में आते हो तो क्या होता है तुरंत सुपूरे ब्रह्मांड का व्याप्त कर लेते हो नक से चोटी तक आपको पूरा एकदम ध्यान में आ जाए झट सीधे आप जो है उसके प्रति सजग हो जाते हो व्याप्त कर लेते हैं जैसे आप जागृत में विश्व भाव को अपने अपनाने मात्र से ही इस पिंड रूपी ब्रह्मांड को व्याप्त कर लेते हो उसी रूप आत्मा जो ब्रह्म शुद्ध व्यापक वह भी जब अपने विराट स्वरूप में आ जाता है उसका अभिमान कर लगता है और समस्त विराट समस्त ब्रह्मांड को वायु ब्रह्मांड को व्याप्त कर लेता है आप दो हेतु देंगे देखिए मंत्र आ रहा है जागृत स्तारो वैश्वानरो अकार प्रथमा मात्रा आप तेर आदिमत्वाद्वा आपनोति वही सर्वां कामम आरिश्च भवती यह एवं वेद जागर स्थान वाला ये जो वैश्वानर है समष्टि में विश्व है वेष्टि में विश्व है वेष्टि में वैश्वान समष्टि में वही अकार है अकार प्रथमा मात्रा वही अकार रूपी प्रथमा मात्रा है मैंने आत्मा का जो प्रथम पाद समि दृष्टि में कहा गया था वही इस ओंकार की प्रथम अक्षरबोधाकार मात्रा है समझो क्यों दो हेतु है, है मानने में आप ते छोड़ के बोला व्याप्त रित्यर्थ आप और दिखाना था ना और का दीर्घ आ है और की आ का मूल स्वरूप क्या है और उसी को बता रहे अकार मात्र में घटाना चाह रहे हम इसे जान के भी उपसर छोड़ करके कर दिया आपते आपते उन्हें प्राप्ति नहीं अर्थ कर देना व्याप्ते और दूसरा ये तो आदिमत्ताद्व आदिमत्व भी है पादों में वो आदि है ये यहाँ के मात्राओं में आदि है इधर आदित्य में दृश्यता और आप तृत्व जो सादृशता इन दो हेतु के कारणों से हम उस प्रथम पाद रूपा वैश्वान जागृत विश्व को हम अवेर कर देते हैं अकार मात्रा के साथ ऐसा जो जानेगा और उपासना करेगा उसको क्या मिलेगा पहले कहा था जो आकार की उपासना करे उसको क्या मिलता है सारा विश्व ही मिलता है लिखा था ना श्लोक इसलिए आकार की उपासना नहीं करनी चाहिए नहीं तो यही जगत मिलेगा यही ब्रह्मांड भटकते रह जाएंगे हम यही कह रहे हैं यहाँ पर आपनोती है वही सर्वान काम वह सगल कामना को प्राप्त कर लेगा और आरिष्ट भवरी सारे दुनिया में सबसे आगे रहेगा लोग उसकी जय जयकार करेंगे लगता है पिछले जन्म में कभी रहा होगा हो और इसके से आदि हो रखा है समय दुनिया में बिल गेट्स <laughs> कभी किया होगा आकार उपासना तो दुनिया के एक नंबर हो रखा बिन लादिन ये भी कभी आकार की उपासना की होगी दुनिया में उसका नाम है सबका आदि बना हुआ है है ना अभी तो उसके अंदर आ गया नेता हो गया विराट है ना तो इसीलिए जो है ऐसा अकार उपासना वाले लोग हैं चाहे वो रावण हो चाहे राम हो सब अकार उपासना वाले नहीं तभी तो सारा संसार व्याप्त हो गए ये लोग आप होती वही सर्वान गामान आदिश्च भवती यह एवं वेद जो ऐसा जानता है वो ऐसा हो जाता है भाष्य देखिए तत्र विशेष नियम क्रिय विशेष नियम करना जरूरी है नहीं तो दोनों को अवेद नहीं कर सकते आप सादृश्यता के बिना अध्ययन कैसे करोगे आपको सादृश्यता दिखानी पड़ी किंचित जिसके आधार पर हम सर्वाभेद ग्रहण कर सकते हैं इतने समान है तो भी समान है इसे दो चार चावल निकाल के देख लिया हो गया पूरे एक एक चावल दोनों दाने खोल के देखोगे पका के नहीं पका फिर दो चार दाना देख लिया हो गया पक गया सारे पक गया मान लिया जाता है अरे एक दो सादृश्यता दे हम मान लेंगे सर्वत हंड्रेड परसेंट दोनों अभिन्न है सदृश है मान लेंगे अच्छा तो सुनो फिर जहाँ क्या है विशेष नियम जिसके आधार पर सात स्वीकार भेद स्वीकार किया जा सकता है उन्हीं को बताने जा रहे हैं जागृत दृष्टान टंकी देखो यहाँ दिया है टीका कर एक पंक्ति पढ़ लो बहुत अच्छा है विश्व अकाल और एकत्म विश्व विश्व ने वृष्टि और समस्ट में वैश्वान ले लेना और आकार के साथ एकत्म सादृश्य सती आरोपित शक्यम यदि सादृश्यता हो तो इन दोनों में एकत्व का मैं आरोप कर सकता हूँ मैं तो कैसे करूंगा ये दोनों एक है कैसे कह दूंगा मैं और अन्यत्र सत्य हो तस्वीन आरोप संदर्शनाथ और उसके लिए अन्यत्र दिखानी पड़ेगी विस्तार आने के पहले एक धर्म को कहीं दिखाओ फिर कहो वो धर्म यहाँ भी होने से ये दोनों अभिन्न है जैसे आपको कहना पड़ेगा सुंदरता शीतलता इतना है ना आह्लादकता इत्यादि को पहले आप कहा दिखाएंगे चंद्रमा में फिर उसको मुख में अतिरिक्त चंद्रमा और मुख के साथ सादृश्यता के आधार पर अवेद दर्शन करा सकते हो उसी प्रकार यहाँ पर भी पहले एक धर्म को कहीं दिखाओ फिर कोई यहाँ हो तो वो वहां भी है अतिवे दोनों एक है इसलिए आप दो धर्म लिया एक तो आप तृत्व और एक आदिमत्व पहले इन दोनों को कहा घटाओगे आकार में देखो वो भी आदि है और आकार क्या कर रहा है हो वही सर्वाद सारे अभिधान को व्याप्त कर बैठा हुआ है वो अच्छा आप्तित्व तो अकार में है आदित्व भी अकार में है अब पाल में देखिए पाल भी क्या है विश्व संपूर्ण को व्याप्त कर रहा है वैश्वान संपूर्ण बाह्य विराट को व्याप्त कर रहा है आतृत्व आदि है और पादों का आदि होने के नाते आदिमत्व तो भी उसके अंदर आ गया इसलिए कहते हैं अन्यत्र सतीय तस्मिन आरोप संदर्शनाथ नियम है तथा चिंत आरोप प्रयोजकम इसलिए इस लौकिक नियम के आधार पर आप हमें बताइए आपके पाद और मात्र का परस्पर ऐक्यता का जो आरोप करना चाह रहे हो क्या निमित्त ऐसा पूछे जाने पर जवाब दिया तत्र विशेष नियम क्रियते जागृत स्थान वैश्वान सो ओंगार आकार प्रथमा मात्रा कहते कि देखो जागृत स्थान वाला जो अभिमानी वृष्टि में विश्व समष्टि में वैश्वानर क्योंकि वैश्वान शब्द का किया था विश्वेशम नर है वैश्वानर सकल विश्व विश्व जितने भी है सकल वृष्टियों का जो अभिमानी नर इसलिए क्या वैश्वान शब्द एक ऐसा शब्द है जिसमें तो वृष्टि छिपा हुआ समष्टि का कथन हो रहा है वृष्टि उसके पेट में है इसमें गर्भग्राही शब्द कहते हैं इनको इसलिए गर्भ शब्द का ही गर्भ में वो भी मिल गया दूसरा भी मिल गया वृष्टि पकड़ में आ गया कि विश्वेशम नर ऐसा कर दूंगा पितपत्ति એટલે કે पितપत्ति વિશેષણ બી કહા વિશ્વસચ સોનરસ્ય કહા કહેની ગાતે તો ઇસરે યહર ભી કાય વસી દ્રષ્ટિકોણ સે વાત કર રહે હે જય સવયશ્વનો યસ સ ઉંગારસ્ય કારહ प्रथમા માત્ર વય પતમ પારક સમાના હોતા प्रथમા માત્ર હે સમજો કેન સમાનીન ક્યા તા દર્શાયા ઇત્યા આપતે આપતે व्याप्ति अकार सर्वा भाग व्याप्ता आप का मतलब व्याप्त व्याप्त क्या है यहाँ अकार के द्वारा सर्वाक व्याप्त संपूर्ण व्यवहार ही आकार से व्याप्त शिव सूत्र पढ़ोगे और स्पष्ट हो जाता है शिव सूत्र में बहुत ही बढ़िया ढंग से समझाया और सब वर्ण कैसे उत्पन्न आया है ना और था केवल अकेला एक में आत्मा ब्रह्म ही था उस अ में जब एकाकी न रमते हुआ जीवों के कर्म संकल्प वसात कर्म वसात उसने अपने आनंद रूपता का अनुभव किया तो अ से आ हो गया अब वो आनंद रूपता की एक मात्रा को लेकर के उसके अंदर कामना हुई वो तो ई हो गया वो तो कामना कैसे आएगी कामना आने के लिए माया चाहिए था वो तो ई हो गया अस्वमेव इति स्वार्थीकरण कर दो हमें अ में स्वार्थिकरण करोगे क्या होगा वृद्धि हो गया आ और स्वयं ने ही आनंद अनुभव किया तो आ हुआ उस आनंद को बांटने के चक्कर में उसने पत्नी को चाहा अस्य स्त्री थी और अस्य अपत्यम थी है ना आते ही बस भी हो जाता है इधर से अ आ ई बन गया चारों बन गए अब उसने देखा मैं तो इन कामना के लिए संसार बनाते जाऊंगा तू समेटेगा कौन ये कैसे समेटेगा ये चिंतन जब किया उसने कि और ई में से मात्राओं को निकाला कामना और अपना स्वरूप में से विनाशी तमोगुण को निकाला तमोन प्रधान वो हो हो गया हो गया वो इसी प्रक्रिया से सारा व्यंजन वगैरह सब वर्णन आया लंबा छोड़ा व्याख्या है तो आ ही सकल वर्ण समुदाय को बनने से आ से ही निष्पन्न हुआ और उन वर्ण समुदायों को मिला जुला करके सारी व्यवहार हो रहा है नहीं इसलिए कहते उसे भी रहा है वृष्टि समष्टि चतुर्विधा जो चतुर्व्यू है ना और ये वो री हो जाएगा चतुर्व्यू बन जाएगा जब वो चतुर्व्यू बन गया उससे जरा अरे बन जाएंगे ये सारा वर्णन विशेष रूप से कथन किया वृष्टि समृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है कैसे एक दूसरे का संयोग हुआ क्या हुआ कैसे वर्ण उत्पत्ति वर्ण उत्पत्ति के आधार पर सृष्टि उत्पत्ति हुई सृष्टि उत्पत्ति से वर्ण उत्पत्ति के समान होने के नाते वर्ण और सृष्टि अभिन्न हो जाता है अतएव अकार सर्वाकार सर्वावाग व्याप्त अकार हो वही सर्वावाग है तथा वैश्वान जगत इसी प्रकार से वैश्वानर के साथ जगत की जो है वैश्वानरेण जगत वैश्वानर के द्वारा जगत की व्याप्ति समझो तस्वा एक वैश्वानर से मूर्ध सुदेजा क्योंकि वह यह जो वैश्वान आत्मा है उसका क्या है एक द्यूलों की खोपड़ी है अंतरिक्ष लोग धर है पृथ्वी लोग पाग है वर्णन किया बस्ती ये है रही ये है आया था ना पहले भी एक बार सप्तांग एक विंशति मुका में वर्णन करते होता आया था सप्तांगों का वर्णन में ये समस्त ब्रह्मांड ही क्या है उस वैश्वान का शरीर हो गया इसलिए वह वैश्वान समस्त ब्रह्मांड द्यूलोक से पाता लोग पर सारे चीजों को व्याप्त कर बैठा हुआ है खाकर चोटी पर्यंत जैसे आप आनख शिखा पर्यंत जैसे आप व्याप्त कर लेते हो उसी प्रकार से ब्रह्मा लोक से लेकर के पाता लोक पर सबको व्याप्त करके वैश्वान रहता है इसलिए आपकी तो सदृशता है कि नहीं है आपको अभी इतने श्रुदय है अभिधान अभिदेव एकत्व चवोचाना और अभिधान अभिदेव एकत्व पहले ही विचार करके समझा चुके हैं आदि आदि आदिमत और आदि अस्य विद्यते ये जो है इसका आदि विद्यमान है अरे इसको आदिमत कहेंगे यदि आदिमत अकाराख्यम अक्षरम तथा वैश्वानर जिस प्रकार से आकाराख्य जो अक्षर है वो आदिमत है ठीक उसी प्रकार से वैश्वानर भी क्या है पादों में आदिमत है तस्मात सामान्य अकारत्म ईश्वर ये सामान्यता सादृश्यता को लेकर के हम कहते अकार ही प्रथम पाद प्रथम पाद अकार मात्र है ऐसा एकत्व को जानकर उपासना करने वाले को क्या मिलेगा तद एकत्व फलम आह आपनोति हवई सर्वान गामान आदि प्रथमश्च भवदी महताम आप्रोति हवई सर्वान गाम स्पष्ट ही है सकल कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और आदि मैंने प्रथमश्च केशव मध्य महादाम पुरुषाराम मध्य यह एवं वेद यथोक्तम एक यो वेद यथोक्त एक को जो वेद में उपास थे जो ऐसी उपासना करेगा वो ऐतारसी फल को प्राप्त करेगा स्वप्न स्थान तेजसा उकारो द्वितीया मात्रा उत्कर्षाद उभयत्ता उत्कर्षति हई ज्ञान संतति सवती नाशा ब्रह्म कुले भवती यह एवं वेद थोड़ा और अधिक फल बता दिया इसको वो मात्र हमने आपका पुकार मात्र का फल क्या है स्वर्लोक प्राप्त ब्रह्मलोक प्राप्ति पर्यंत है ना आवृत्ति है नहीं आप अकार में आवृत्ति है उकार में ब्रह्मलोक पर्यंत जाएगा अकार में स्वर्ग लोग जा सकता है पितृलोक जा सकता है और लौटेगा वहां छीने पुण्य और ये ब्रह्मलोक में जाने वाला है इसलिए इसके अलावा विशेष फल दे दिया विशेष अलग बात कर रहे स्वप्न स्थान तेजसा स्वप्न जानवर जो तेजस है हिरण गर्भ है अंतर्यामी कहा गया